एक दिन पहले जब विक्रांत ने खालिद को सबक सिखाने का प्लान बनाया था तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने अदृश्य शक्ति की ताकत का भी इस्तेमाल करेगा लेकिन अदृश्य शक्ति का सही से इस्तेमाल करने का पहले उसे इसके लिए पूरा माहौल बनाने की जरूरत थी इसीलिए उसने अपने दोस्तों देव अतुल और अमित को भी हेल्प के लिए बुलाया था उन लोगों की हेल्प से पहले तो उसने खालिद के सभी अड्डों ठिकानों का एड्रेस निकाला फिर इसके बाद उसने खालिद के सभी अड्डों पर फर्जी रेड डलवानी शुरू कर दी पुलिस की छोटी मोटी टीम खालिद के हर अड्डे पर पहुंची और कहीं इलीगल काम का बहाना लेकर तो कहीं कैजुअल चेकिंग का बहाना लेकर छापेमारी शुरू कर दी हालांकि इससे खालिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचना था लेकिन इससे विक्रांत को फायदा ये होता कि खालिद के मन में विक्रांत को लेकर एक डर बैठ जाता इसके बाद आखिर में जब एंटी ड्रग और पोर्नोग्राफी के ऑफिसर अतुल सिंह अपनी टीम लेकर खालिद की टी शॉप पर पहुंचे तब बेशक खालिद को विक्रांत की पावर का अंदाजा हुआ रहा होगा उसे ये तो जाहिर हो ही गया था कि विक्रांत के रास्ते में आना ठीक नहीं है बाद में बच्ची खुची कसर विक्रांत ने अपने अदृश्य शक्ति की ताकत से कर दिया था विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा एक हिडन सर्विलांस सिस्टम दिया गया था उसने इस सर्विलांस कैमरे को खालिद की आंखों से सेट कर दिया था अब खालिद जो भी देखता वो सब विक्रांत को दिखाई पड़ रहा था ये विक्रांत का मास्टर स्ट्रोक था क्योंकि इस प्लान से खालिद के मन में विक्रांत को लेकर अलग ही तरह का डर बैठ गया था इस घटना के बाद से खालिद पूरी रात सो भी नहीं पाया था उस रात जब विक्रांत ने खालिद के बेटी के पास फोन किया तब तो खालिद डर के मारे के चक्कर खाकर गिर पड़ा उस दिन तो खालिद पूरी रात सो भी नहीं सका यहाँ तक कि वो पूरी रात अकेले बाथरूम जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा सका जैसे तैसे उसने रात काटी और फिर अगले दिन सुबह उसने दो काम किए सबसे पहले तो उसने अपने लॉयर से बात करके विक्रांत के ऊपर लगे सारे कंप्लेंट वापस ले लिए फिर दूसरा काम ये किया कि उसने अपने साथ ही अपनी फैमिली का भी फॉरेन का टिकट बुक किया वो तुरंत ही मुंबई छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया विक्रांत के नाम से ही उसके मन में इतनी दहशत फैल गई थी कि उसे लगने लगा था कि अगर यहाँ रहा तो विक्रांत चौबीसों घंटे उस पर नजर रखता रहेगा उसकी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसलिए वो यहाँ से दूर जाकर विक्रांत की पहुंच से बाहर होना चाहता था खालिद के कम्प्लेट वापस लेते ही विक्रांत का सारा काम आसान हो गया अब वो सीधे ब्यूरो चीफ अमृत के ऑफिस में पहुंचा और उनसे अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करने की परमिशन ले ली अब जबकि विक्रांत ने अपना टास्क पूरा कर लिया था तो उसका सक्सेस रेट भी इक्यानवे परसेंट तक पहुंच गया था पिछले दिन विक्रांत ने दो टास्क पूरे किए थे एक तो खालिद को सबक सिखाने का काम और दूसरा डीसीपी डिसूजा सर की डायरी हासिल करना इस टास्क को पूरा करने के बाद गिफ्ट के तौर पर विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा पावर जैमिंग डिवाइस भी दी गई थी अदृश्य शक्ति द्वारा दी गई इस पावर जैमिंग डिवाइस की मदद से विक्रांत कभी भी और कहीं भी 20 मीटर तक के रेंज तक के एरिया की पावर सप्लाई कट कर सकता है और ये डिवाइस एक बार एक्टिवेट होने के बाद अगले एक मिनट तक चालू रह सकता है वैसे ये गिफ्ट अच्छा तो था लेकिन विक्रांत को शिकायत ये थी कि ये सिर्फ एक मिनट तक ही काम कर सकता था इस लिहाज से उसे पहले जो गिफ्ट मिले थे वो ज्यादा बेहतर थे अपने सर्विलांस डिवाइस को तो विक्रांत 24 घंटों तक एक्टिवेट रख सकता है और 24 घंटों तक वो किसी पर भी अपनी नजर रख सकता है वो कि वो कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है विक्रांत को किसी ऐसे ही गिफ्ट का इंतजार रहता है अभी विक्रांत अपने साथ नैना को लेकर deputy bureau chief Mitali madam के पास जा रहा था इस वक्त उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि काश मेरे पास एक दो सर्विलांस कैमरा और होता तो फिर मैं उसे नैना के पास लगा देता फिर मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता ये कहाँ रहती है क्या करती है इसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं और और मैं तो इसे फिर नहाते हुए भी देख लेता <laughs> मन में इस तरह के ख्याल आते ही विक्रांत को थोड़ी हंसी आने लगी आज सुबह विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा पानी और तूफान शब्द कोडवर्ड के तौर पर दिया गया था तूफान का मतलब विक्रांत के स्टेटस से था जो कि उसने दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करके हासिल कर ही लिया था अब दूसरा शब्द था पानी और पानी का मतलब लड़की से है अब सही मायने में देखें तो विक्रांत को आज सुबह से सबसे पहली लड़की नैना ही मिली है इस हिसाब से आज का लड़की वाला कोडवर्ड नैना के लिए ही था लेकिन नैना अचानक फिर से विक्रांत की लाइफ में वापस क्यों आई है ये बात विक्रांत को अलग ही खुशी दे रही थी वो सोच रहा था कि कहीं ऊपर वाला मुझे और नैना को मिलाना तो नहीं चाहता इसीलिए उसे बार बार मेरे करीब भेज रहा है इस वक्त नैना और विक्रांत मिताली के पास जा रहे थे नैना तेजी से अपना कदम बढ़ाते हुए चली जा रही उसके चलने का अंदाज देखकर कोई भी बता सकता है कि वो विक्रांत से बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है वो जल्द से जल्द विक्रांत से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी लेकिन विक्रांत भी कम खिलाड़ी नहीं था वो भला किसी लड़की के साथ बिना फ्लर्ट किए उसे जाने दे ऐसा हो ही नहीं सकता वो भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए नैना के पैरल पहुंच गया और फिर बोला तुम तुम यहाँ क्या करने आई हो पनवेल ब्रांच में तो तुम टीम हेड थी ना तो फिर यहाँ टीम लीडर बनकर भी ज्वाइन कर लिया ऐसा क्या है भाई इस ब्रांच में नैना ने विक्रांत के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया वो तेजी से अपना कदम बढ़ाते हुए चली जा रही थी उसके हाव भाव देख साफ पता लग रहा था कि वो विक्रांत को बिल्कुल भी भाव देने के मूड में नहीं दिख रही है उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो मन ही मन विक्रांत को जी भर कर गालियां दे रही है लेकिन विक्रांत भी इतनी जल्दी कहाँ हिम्मत हारने वाला था उसने फिर से बात आगे बढ़ाने की कोशिश की कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे लिए यहाँ आई हो तुम्हारा वहाँ मेरे बिना दिल नहीं लग रहा था हैं? असलियत में तो विक्रांत नैना को वो किस वाली घटना याद दिलाना चाहता था लेकिन अभी वो नैना के साथ किसी तरह के पंगे में पड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था लेकिन फिर भी उसने अपने शब्दों से नैना के कानों में जहर घोलने का काम कर दिया था नैना तुरंत रुक गई और फिर वो पलटकर विक्रांत को घूरने लगी मानो अभी वो विक्रांत को कच्चा चबा जाएगी